खुले खजवे हो जाए इधर से कैन वी आई वीआईपी बोल फड़वे मुड में रेंगा स्टैंड रात को बेचता उसको घर पे अगर ना इस प्लान उसके साथ तेरी माँ मेरे साथ तेरी बहन वो बनेगी मेरी fan she'll do what I'm saying capture सीधा ब्रेन सुबह की पकड़ी ट्रेन मेरे साथ कैंटर तेरी बहन दिखावा तेरा दिल बड़ा तू अंदर से पूरा सड़ा बहुत बुरा हुआ तेरा भाई पर आज भी खड़ा मैं खुद मेरा दोस्त बना आईने के पीछे सपोर्ट मिला तीन साल पहले से मैं वोट किया प्लान तेरे अभी मैंने जो किया मैं वो चू बेटा तू ये नो किया अभी मैंने जे का स्मोक किया तेरे आइटम में गुर्रे मैंने नोट किया बिच टॉकिंग मैंने बुक किया she is ride on knees मैंने चेक किया I got a friend name is Sophia छोड़ डाला बेटा अभी पहले मैंने बहुत पिया राला I am laid I am on a ground हां तभी करा इग्नोर अभी सुनने वाले सब चुकार तेरी मादी मेरे को फोन दे को गपते को घर दे के लत मेरे को मालूम मेरे सब मेरे सामने से हटे तेरे सपने भी झाटे तूने दिखाया कत जब भी करा तूने बात मेरे होमीज में घात लारी सात्र के सिर्फ नारी टपरे पे चोरी मारे देख के ओ भाग जा रे बाबा एड़ा चटादारी स्टैंड और मैं साथ तेरे गांड से ओ बात सारी लागलेल पंभाव माझ्या लंडाला चाव कसा मी सांगू राव कसा मी बोलू राव तू नरम भाव नको ठोक खाव नको नको ढोक खाओ हलत हलत सावपन इधर मत आओ नहीं दिया तेको भाव इसलिए किया तूने घाव आ नो दैशी इसलिए लिया मैंने एडी की चद्दर और बन गया छपरी सिर्फ दिख रही ली टपरी टपरी पे साइफर और साइफर में फपली खाना पे टपली फिर क्या बोलता छपरी मेरे को देख के तू लपरी तू खबरी तू छपरी तू अंडवा तू कोंडवा अंडवा लेके कोंडवा बाग समझेंगी दुनिया एडी की मत ले बोले तो साधु को जादू मत सीखा मत दिखा मैंने सीख डाला देख डाला मेरे दोस्त लोग को मरते टाइम भलते टाइम चलते टाइम करते टाइम भरते टाइम दूल्हे खजवे हो जाए इधर से कैन भी बोल फड़वे गुड में रिंगा स्टैंड रात को बेचता उसको घर पे अगर ना इस प्लान उसके साथ तेरी माँ मेरे साथ तेरी बहन वो बनेगी मेरी fan she'll do what I'm saying capture सीधा ब्रेन सुबह की पकड़ी ट्रेन मेरे साथ कैंटर तेरी बहन दे स्टैंड फ्रेम में हाँ फ्रेम में हाँ अच्छा बस हो गया इतना ही हाथ भरती तेरी आइटम मैं कुछ कुछ झड़ती फिर क्या बोलता गरज आज हो गया मरते को बाइकों की गरज मेरे को काइको ने गरज में अकेला बरस में सरस में चरस में बरसेगा तू मेरे को मिलने को दस टाइम तरसेगा तरकी में बजेगा गाइस अपने खाइला तो कैसे क्या हगेगा सजेगा तू सजना के लिए पर सजना को किसने किसने कैसे कैसे लिए देखो मालूम है अंदर की बात घाट भाते तू भाते तू राइड हो तो भाग जाते यार पत्ती कार्रवाई फेवरेट इधर भाई बंदे बैनर पे यो बैनर पे बैनर पे बैनर पे भाव लोग के फोटो बेचा मल को देती क्या चोको मेरे को कौन तो भी रोको माँ मेरे को फोटो बुरा मत मान मेरी हिल गई ली तार मेरे को दिख रही रहे चार डिसेंट की मत ले हाथ पे तेरे वार आखिर कार चाकर हुआ मैं तड़ी पार फक यो Yeah. 間前に。